समझे चाहे वो बात को स्वीकारें या न स्वीकारें वो अलग बात है समझे क्यों तो कि प्रश्न पूछने वाला और जवाब देने वाला दो एक ही है दो है ही नहीं इतनी अभेद दृष्टि होती है तभी तो कल्याण होता है इसके अलावा नहीं होगा स्वामी जी हाँ जी ये कैसा दादा मिला है हम जैसा भाव करते हैं वैसा बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है मैं सच कहता हूँ इस डॉक्टर ये धर्म वाला अध्यात्म में रुचि रखने वाला डॉक्टर है अलवर में अच्छा, अच्छा। मैंने इसके लिए भाव किया था अच्छा। अब ये डॉक्टर कैसे मालिक के चरणों में पहुंचे और इसको जो है कुछ मालिक से कुछ मिले मैं निरंतर भाव कर रहा था कई दिन से और कल मैंने को प्रत्यक्ष देखने में आया देख लिया ना तो मेरा ये प्रश्न है अब हमें ज्ञानी पुरुष मिला अक्रम विज्ञान मिला परमहंस की सभा में बैठने का मौका मिला स्वयं का दीदार हुआ आत्मा का साक्षात्कार हुआ प्रगट प्रत्यक्ष देहधारी परमात्मा का मिलाप हुआ ये सब किस पुण्य से हुआ ऐसा हम वो बताएं ताकि हम उस पुण्य की तरफ हम बढ़े और आगे बढ़ाए ये तो कविराज बताते हैं कोटि जन्मों की पुण्य के फल स्वरूप ये सब हमें प्राप्त हुआ है समझे अब पीछे मत जाए जो मिला है उसको समझे बस तो अब क्या वो तो कोटि जन्म तो पिछले हैं अब बताइए रास्ता ताकि हम आगे बढ़े और बढ़ाए अरे आज्ञा धर्म वही आज्ञा धर्म वही एक सिर्फ रास्ता है वही रास्ता है और ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में मूर्ति की तरह बैठे रहो ये दूसरा उपाय है स्वामी जी हाँ जी आज रात को मेरे जो है थोड़ा सा प्रश्न भी उठे और उत्तर भी उठे दो मिनट बोल सकता हूँ हाँ, हाँ जरूर बोलिए दादा भगवान अक्रम विज्ञान क्या है अपूर्व अनुपम अद्भुत न भूतों न भविष्य ऐसा ये विज्ञान है धर्म नहीं है अक्रम विज्ञान क्या है ये धर्म नहीं विज्ञान है केवल सही समझ ही है करने का कुछ भी नहीं है बस सीधा मोक्ष है बस बराबर अक्रम विज्ञान जब जानोगे तब क्या होगा सहज ही में सब कुछ पालोगे यही होगा बस अक्रम विज्ञान से क्या होगा सभी दुख चिंताओं से मुक्ति मन आनंद से भर जाएगा कल्याण हो जाएगा अक्रम विज्ञान कहाँ मिले जहाँ ज्ञानी पुरुष अनुभव भी मिले वहाँ मिले ज्ञानी पुरुष का पता बताओ वो क्या है ज्ञानी का जोटा नहीं होता पूरे विश्व में एक ही होता ये हमारा अनुभव बोलता है है गुजरात धरा पुण्य क्षेत्र केरनपुरी डबोई रोड बड़ोदरा जहाँ दादा श्री की समाधि है वहाँ कटती है जन्म मरण आदि व्याधि उपाधि निरंतर ही रहे समाधि अक्रम विज्ञान कैसे मिले वो भव्य आत्मा बड़ी किस्मत वाला पुण्य पुंज पुण्यशाली को ही मिले सबको नहीं मिले अक्रम विज्ञान क्या है पतझड़ में बसंत की बहार है पतझड़ में बसंत की बहार है कलयुग में सतयुग का दीदार है ये बहुत बड़ा करिश्मा करने वाला दादा भगवान का असीम जय जयकार है जय जय सच्चिदानंद बहुत अच्छा लिखा है आपने ये अनुभव है आपका निरंतर मंथन होता रहा नींद नहीं आई वो होता ही रहेगा ये ज्ञान ही ऐसा है ये ज्ञान ही ऐसा है अपने आप कार्य करता ही है उसी को ही विज्ञान कहते हैं हाँ कोई बात करते रहिए દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દા सिंह जय जयकार हो सब लोग बैठ जाए भगवान ना सिंह जय जयकार हो भगवान ना सिंह जय जयकार हो दादा भगवान ना सिंह स्वीकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो बेकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार जोर से बोलिए असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હલો હલો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન भारत और सभी जो है मध्य से सभी को सभी हिंदी भाषियों को दादा भगवान का स्वरूप सही ढंग से समझाए ताराचंद जी इतनी सही ढंग से समझाए कि दादा भगवान वो व्यक्ति नहीं है दादा भगवान वो व्यक्ति नहीं है वो हमेरे आत्मस्वरूप है वो अशरीरी है उनको देह नहीं और सभी धर्मों में वो तो समझाया गया है दादा शब्द धर्म के बारे में अति पवित्र है अति पवित्र है अति पवित्र है आदि पुरुष आदिम पुरुष वो ऋषभदेव दादा बोले गए भागवत में भी ये बताया है और जैन मार्ग में भी अच्छी ढंग से बताया है और सभी को यही होता है आचार्य अपने संत वगैरह आचार्य होते हैं ना उसको भी बोलते हैं जो समर्थ आचार्य होते हैं तो दादा के पगले कैसा कुछ करते है ना पर वो हमेशा दिव्यता का सूचक शब्द है दादा और भगवान है तो व्यवहार होना ही आपको क्या लगता है बोलो न भाई भगवान है तो व्यवहार होना ही क्या लगता है आपको हाँ बिल्कुल नहीं सब हाँ नहीं तो व्यवहार आया कहाँ से व्यवहार आया कहाँ से ये मनुष्य का व्यवहार है तो वही हमें समझाता है कि भगवान की हाजिरी के बिना व्यवहार नहीं होता क्या बताया यहाँ व्यवहार की कीमत अति महत्व की कीमत आ गई ये मानव देश से शरीर से आई कि नहीं बहुत कीमत आई अगर ये शरीर है तो उसकी कीमत सही ढंग से हमें उसका इस्तेमाल हो जावे हुँ? कि खुद सुखी होए और दूसरे को भी वो सुखी का सारा बेचे न શું કહેવાય बांट बांटा जाए हाँ, वो हाथ से शरीर की क्रिया से नहीं बनता वो दिल से बनता है दिल से हुँ? चलो तो दादा भगवान वो मेरा आत्म स्वरूप है स्व स्वरूप है वो देह जो पर है तो पर के साथ हमें अच्छी ढंग से स्व स्वरूप की थोड़ी पहचान होती जाए आहिस्ते आहिस्ते इसी कारण ये दादा भगवान के असीम जय जयकारों की कीर्तन भक्ति है स्वरूप कीर्तन भक्ति है इसी ढंग से सबको हिंदी भाषी बिल्ज में समझाना ठीक है सब हाँ बरोबर है कि नहीं हाँ, अब तो पुत्र आते रहेंगे उन्होंने भी तय किया है आप लोग उनको आप उनके सर के ही दिल वाले बहुत खुश हो गए हैं तो हाँ ज़रूर आएंगे ज़रूर आएंगे लेकिन वो जो उनकी कुछ संख्या है बीस बीस चौबीस बाईस चौबीस संख्या है तो आहिस्ते आहिस्ते एक या दो आते जाते रहेंगे क्या लेकिन हाँ आते जाते रहेंगे लेकिन हर रोज़ यहाँ हर दिन रहे ऐसा न बनना मुश्किल है क्योंकि वो सब जगह सारा भारत घूमते हैं सारा भारत में बस सुनो हूँ हम्म, ये अपने पा, चार पांच कपड़े पहले तो चार ही कपड़े रखते थे पर कहाँ जाना होता है तो दो दिन कपड़े धोने की व्यवस्था न मिली वो खुद कर कर, कर लेते हैं अपना तो बोलते हैं कपड़ा का तकलीफ हो गई तो एक पाँचवा ड्रेस बताया भाई रखो तुम पाँचवा ड्रेस ये इनकी पूजी है और मुड़ी है और असल उनकी पूजी मूड़ी वो खुद जो मन वचन काया शरीर से है और दादा भगवान के सही ढंग से उन्होंने सभी को ये समझाने के लिए शक्ति दी है हुँ? और दादा भगवान की उनको आज्ञा भी है और सारा संघ और सभी वड़ी लोग सब पूरा संघ उनके पीछे है तो आप भी उनका इस्तेमाल करना अच्छी ढंग से वडिलो लोग भी जैसे समय समय आते जाते रहेंगे और हमें तो दिखाई देता है कि वडिलों को भी मालूम है सबको कि आओ हाँ बस बस ऐसा तो ये सब आगे आगे 2016 के बारिश के पूर्व बहुत और बड़ाई होने वाली है उसमें बहुत बहुत आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा इतना अच्छा लगेगा कि यहाँ से जाने का दिल नहीं होगा ऐसा जाने का दिल नहीं होगा तो ये आपको सब मेरा खूब खूब आशीर्वाद है खूब आशीर्वाद है हाँ बोलो आत्मा की अनंत शक्तियां हैं है क्या बताओ आत्मा की अनंत शक्तियाँ हैं लेकिन जो शरीर है मानव शरीर वो मानव शरीर वो आत्मा से शक्तियाँ लेके जी रहा है हाँ तो वो खुद की शक्ति तो है ही नहीं तो शरीर तो शरीर है तो शरीर साधन सही रहे ऐसा संभाल करके ये सब मार्ग चलाना है हुँ? हम्म? क्या आ, अच्छा નિમેશાનંદ જી તો એસડીએ અચ્છા અડધો કલાક સત્સંગ કરીશું અને જે ખાસ અને ये तो बरबर हो गई बात हो गई हो बात बरबर ठीक है हुँ? हम्म, अभी आप सत्संग चालू करो क्या अच्छा तो मुझे कोई भी पूछो जो दिल में आवे पूछो को जो भी पूछने आवे जाओ ये सब भी दें हाँ थोड़ा चलो हाँ, हाँ। बैठ जाने से पीछे अपने जगह पर चले जाना ये कमला जैन है जोधपुर की मुमुक्षु है प्रश्न है सभी जीवात्मा में शुद्धात्मा का दर्शन कैसे करने चाहिए कृपा करके समझाए सभी जीवात्मा में शुद्धात्मा के दर्शन इस ढंग से करने चाहिए जैसे हम हमारे अंदर उसकी चाहना करते हैं और उसी ढंग से शरीर से जीना चाहते हैं इसीलिए सभी को है लेकिन हमें पहला शुद्धात्मा दिखा दे पीछे उनका शरीर दिखाएगा व्यवहार दिखाएगा तो सभी व्यवहार में अपने शरीर से से रहेंगे उसमें आपको दृष्टि में भिन्नता नहीं बनेगी एकदम तो नहीं होने वाला आहिस्ते आहिस्ते बनता रहता है ठीक है हम्म। आगे दादा भगवान मेरी तीव्र इच्छा है आपको माला पहनाने की मैं माला पहना ले हेतु हो गई ना हाँ बस हो गई बस आगे नहीं ना कुछ पूरा हो गया ना ले ले जा ले भाई रखो और को बोलो हुँ? हम्म? आप चश्मे पहन के देख देख सकती है मुझे <laughs> तो बराबर बराबर वो तो वो नहीं है, है? आनंद आता है हाँ? बहुत आनंद आता है हाँ आनंद शरीर में जो हमें आता है उसका स्वाद मिलता है अनुभव होता है वो शरीर से नहीं आता लेकिन शुद्धात्मा का जो अनंत सुखमय उनके स्वभाव है उसके कारण ये आनंद उसका किल्लोल आनंद आनंद का स्वभाव है जैसा एक चंदन वृक्ष का टुकड़ा है तो उसमें से चंदन की सुवास किससे जाती है ऐसा अनंत सुख वाला कंद है आत्मा शुद्ध आत्मा वो कंद से ऐसी लहरें उठती जाती वो आनंद है अर्थात वो शुद्धात्मा का गुण है कैसे तो कि मनुष्य शरीर से है तो शरीर से अंदर ऐसा आनंद आता है लेकिन वो बाहर के सुख में पड़ा है उसको आनंद समझ लेता है इसीलिए उसका थोड़ा नीचे रहता है और उसका खिफाद नहीं आता दिल से जो प्रार्थना करे दिल से साहब समझाए है सभी को सभी को ज्ञान नहीं होता होगा पर जिसको नहीं है वो सभी लोग शुद्धात्मा की प्रार्थना अति महत्व की है अति महत्व की है ऐसे ऐसे सत साधन है सत महीना सत पुरुष दादा भगवान से हमें प्राप्त हुए साधन सत्पुरुष होना और उनसे हमें साधन प्राप्त हुए उसी को ही सत साधन बोलते हैं वही हमें हमारा ज्ञान खुला करता है हमारा पूरा ज्ञान खुद आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते ऐसे वो साधनों की आराधना करते कुछ पाँच छः साधन है तो ये साधन अपने घर पर एक समय नक्की करके करते जाओ तो भी अच्छा हैगा और जिन्होंने ज्ञान लिया है उनके लिए ये साधन नहीं है और है भी नहीं है कैसे कि शुद्धात्मा हो गए तो शुद्धात्मा तो कुछ करता ही नहीं वह करता है वो तो उसका प्रकाश आता है वो द्रव्य है तत्व प्रकाश प्रकाश फैला जाता है उसमें और ये प्रकाश कैसा है एक सरीखा प्रकाश है उसमें ज़्यादा कम ऐसा कभी नहीं होता समझ में आया सबको हाँ और वो प्रकाश सारा विश्व को प्रकाशित कर सकता है सारा विश्व को जो देह में वो प्रकाश इतना खुला हो गया वो देह में उनका प्रकाश में सारा विश्व खुला हो जाता है और ब्रह्मांड भी तक्षण थोड़े के लिए उच्च उच्च कोटि के देव से मार के नीचे नीचे नीचे पाताल के सभी को तत्क्षण जैसा प्रकाश खुला होता है तीर्थंकर भगवंत में तो सभी वो एक अच्छी शुद्धात्मा की सुख गुण है उसकी आनंद की लहरी सरी फैली जाती है पाताल के लोग जो कभी शक्य नहीं उसको केवल ज्ञान बोलते हैं क्या बताया केवल ज्ञान देह शरीर होते हुए भी तो आपके अंदर जिसने ज्ञान लिया है उन्हें जो जीवन का धर्म बताया गया कि पांच आज्ञाओं से आपका जीवन बिताए पांच आज्ञाओं से बहुत इससे तो आसान है ना भाई आसान है समझ समझ सकते हैं लेकिन हमारा व्यवहार है जो आग लाए हैं ना तो व्यवहार हमारा खुद का लेके आए हैं इसीलिए कभी लगता है कि पर आहिस्ते आहिस्ते वो प्रगति होती है और आपका जीवन शरीर से कुदरती बनता जाता है क्या बताए जैसा बच्चा जन्म से कुदरती होता है दो तीन साल का ऐसे हम्म, ऐसी जी अपना जीवन कुदरती बनता जाता है वो अच्छा लगेगा या नहीं ना कितना अच्छा लगेगा कितना पच्चीस पच्चीस सब शत क्या सौ अरे ये तो हाँ लोग तो <laughs> परीक्षा लेने वाले फेल हो जाएंगे आपके साथ तो <laughs> परीक्षा लेने वाले फेल हो जाएंगे क्योंकि हाँ? परीक्षा लेने वाला परीक्षा नहीं लेता क्या उसकी परीक्षा हो जाती है आपका सबका प्रेम के सामने हुँ? हम्म? तो मेरा आपको खूब आशीर्वाद है और कुछ दो चिट्ठी आई है हम्म? गईकाल की हाँ देते हैं रामनिवास मोदी रामनिवास जी है रामनिवास जी हाँ मोदी ना मोदी अटक मोदी ना रामनिवास मोदी आ जाइए हाँ पीछे देखा देखे ना मैंने पधारो पधारो आओ यहाँ खंबे के अंदर नहीं नहीं वो खंबे बस बस बस बैठ जाइए हाँ हाँ अच्छा आपका परिचय दो सब दो यस सर जी हाँ जी बोलिए दादाजी के चरणों में शशत नमन कोटि कोटि नमन और मेरा प्रश्न यही था कि अक्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और ये कौन से ज्ञान जो अक्रम विज्ञान है कौन से ज्ञान का तात्पर्य कराता है समझ गया समझ गया मैं आपका परिचय मांगा आपका परिचय दो परिचय मैं तो रिटायर्ड हूँ सर कौन से रिटायरमेंट एल विभाग में था मैं life insurance L I C सबका भले करने वाला कंपनी बीमा के <laughs> तो देखो आपका आयुष आ गया तो एकदम आएगा क्या करेंगे इसीलिए ले लो थोड़ा महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भरना है ज़्यादा नहीं भरना <laughs> वो गणित का विषय है गणित का आप तो जानते हैं अच्छा <laughs> आपका प्रश्न लेते हैं जी। एक दूसरा प्रश्न भी है उसमें मैं लेता हूँ उसमें से स्वार्थ के लिए व्यक्ति के कार्य करना ही पड़ता है तो वह कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं तो स्वार्थ के लिए मैं ना जो समाज है आज हमारा भारत का वो भारत के समाज में हमें जीना तो है जहाँ भी जिएंगे तो जीना पड़ेगा तो जीने में आज ऐसी परिस्थिति थोड़ी है लेकिन सुधार बदलाव तो ठीक ढंग से आया है जरूर आया है आज हमारे देश को आज़ादी प्राप्त होने के पश्चात कितने साल हुए सिक्सटी सेवन सड़सठ साल हो गए हैं मेरे ख्याल से तो आज भी ये हालत है क्यों कि गुलामी में से निकलते निकलते आज इस सड़सठ साल तक भी अभी बच्चापन महसूस करते हैं हम बच्चापन वो उसका कोई कारण और नहीं है लेकिन अपना देश का जो जीवन है वो लोभ क्रोध मान माया और लोभ उससे चल रहा है और परदेश लोगों का वाला जीवन वो पांच इंद्रियों है ना वो विषय से चल रहा है और यहाँ उसको कषाय बोलते हैं कषाय मंजे हम मुक्त रहना चाहते हैं ऐसी मुक्त जीवन हो तो अच्छी लगती है लेकिन कषाय नाम ने बिल्कुल ऐसा ऐसा कैसा करके बांध दिया है वो खुद का कषाय है वो एक दूसरे को एक दूसरे के कुछ करता नहीं लेकिन समाज में बहुत दिक्कत देता है हर एक को खुद स्वयं हैरान हो जाता है वो हैरान करती बाहर फैली जाती है वो तो है ही इसीलिए स्वार्थ बन जा हम शांति से जी सके यही समझते हो ना आप बाहर का जो कई कई प्रकार का दबाव है कई कई प्रकार का असामान्य मनुष्य को किसी को कहा नहीं जाता और सहा नहीं जाता इसीलिए स्वार्थ है ना व्यवहार स्वार्थ बोलते हैं उसको व्यवहार स्वार्थ व्यवहार स्वार्थ समझे ना लेकिन स्वार्थ से व्यवहार नहीं चलता व्यवहार कुदरत से जैसा चले इतना हो तो बाहर का कितना भी दबाव आवे अंदर से आप जी सकते हो शांति से वो ये दादा भगवान का जो विज्ञान है वो विज्ञान आपको अक्रम विज्ञान जिसको बोला जाता है वो आपको सही लाभ देगा आपने ज्ञान में बैठे हैं नहीं तो अभी उनका नंबर लगाना जब वो दिवाली के पश्चात जब हम बड़ौदे में आना पड़ेगा हम्म? लगाना जिसको जिसको तमन्ना इच्छा है बहनों भाइयों करना पचास की संख्या में आना पचास की ठीक है और वैसे तो बहुत है लेकिन आपको प्रथम चांस दिया जाएगा सर आप मंजूर है आपको मंजूर है बड़ी बड़ी लोग मंजूर है आप लोगों को प्रथम महीना दूसरे को हम बाजी नहीं रखेंगे लेकिन आपको हम्म, कि आपका आपका राज्य में बहुत बड़ा इलाका चलाना है सारा उत्तर भारत का उत्तर भारत का समझे न तो आप समझे स्वाद के लिए स्वाद दो प्रकार के एक आत्मा के पक्ष का स्वार्थ बोला जाता है और दूसरा व्यवहार के पक्ष में शरीर के पक्ष में बोला जाता है सभी को घर चलाना है तो वो तो, हो, तो होता ही है लेकिन वो स्वार्थ में हमें लोभ कम हुए क्या बताया लोभ नहीं लोभ कम हुए मान की अपेक्षा कम रखी जाए क्या बताया मान की और हर एक को मान तो जरूर है बच्चा हो कोई भी हो उसको करे तो कितना आनंद हो जाता है उसको है कि नहीं हाँ और हमेरी माया जो है सर की हर की घर में तो उसको एक नक्की कर लो एक लाइन के लाइन से हमारे घर में हम लोग जी लेंगे उसको स्वाद बताते हैं उसका रक्षण तो ज़रूर है और वो स्वमान अपना बनाए रखे तो स्वमान से अपना स्वार्थ सही बना रहेगा स्वमान का भगवान ने भी अधिकार दिया है मनुष्य को स्वमान बोलते हैं स्व शब्द आत्मा को लागू होता है और शरीर को कैसा लागू होता है ये आत्मा के साथ वाला शरीर इसीलिए स्वमान लेकिन वो स्व बढ़ न जावे और अभी ना हो जावे महीना अभिमान ना हो जावे इतनी काजी रखना इतनी काजी रखना है ना वो तो रख सकते हैं ना हम्म? दबाव तो आने वाला है किसी को छोड़ेगा नहीं लेकिन जो दिल से है उसको पूरा रक्षण हो जाता है कुदरत का कुदरत का रक्षण होता है उसको हाँ? तो हमारा जीवन ही दिल वाला है सारा भारत भारत भारत राशियों का ये संदेश सबको बहुत देना जरूरी है सबको हम्म। बाकी की व्यवस्था तो हमेशा चलने ही वाली है कायम की वो तो है हाँ? कभी राजा होते थे कभी अभी आज का ज़माना हो लोकशाही वगैरह का इस ढंग से हो तो वो तो वही रहता है लेकिन हमें संभालना चाहिए सबको हम्म। लालच आदमी को अपना स्वार्थ संभालने में भी बहुत अड़चन करती है लालच लालच लालच किसी को थोड़ी मिल गई तो बिका गया तो हम बिका न जावे किसी के किसी को ऐसा दिल से रहे बिल्कुल दिल दिल में कोई जाने वाला नहीं है तो बाहर से नाटक करो क्या वो तो करना ही पड़ेगा लोग करवाते हैं नाटक लोग करवाते हैं ये सब जीवन ही नाटक है हकीकत में नाटक है नाटक है ना टिकने वाला नहीं हम्म? समझे ना आप मोदी साहब और दूसरा प्रश्न है आपका अक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है अक्रम विज्ञान कौन सा ज्ञान है अक्रम का शाब्दिक अर्थ ये है कि अभी अभी हॉल बनाया है हमें ऊपर जाना है अगासी में जाना है तो पटरी चढ़ के हम जाएंगे तो वहाँ लिफ्ट रख दे ना लिफ्ट जगह रखी है आपने वो बने मुझे दिखाई देती है वो दिखाई देती हो आ जाएगी वो तो आपको दिखाई देती है साहब सब आपको दिखाई देती है शॉर्टकट हो गया आप सब बड़ी शॉर्टकट हाँ? हो गया मतलब। <laughs> तो वहाँ ऊपर चले गए उसको अक्रम बोलते हैं और पटरी पटरी से जाओ तो क्रम बोलते हैं इतना ही है तो ये कलयुग में ये क्रम चलता नहीं क्यों कि अपना शरीर है सभी का वो शरीर क्रम में चलने वाला ऐसा सक्षम नहीं है क्या क्यों कि हमारे मन में जो होता है वैसा वाणी में नहीं है और वाणी में होता है ऐसा व्यवहार में नहीं है तीनों अलग अलग दशा से फिर भी शरीर तो जिंदा रहता है उसमें हैरान हो जाता है आदमी तो ये अक्रम एक रिट है एक ये अपवाद मार्ग है अपवाद सामान्य तौर से वही चलता है लेकिन वो समय देश काल उसके हिसाब से आ हाँ, तो कलयुग हुआ है ना तो कलयुग में ये कल की अवतार ज्ञान अवतार को बोलते हैं कल की अवतार ज्ञान अवतार को बोलते हैं कैसा ज्ञान अवतार परमात्मा का परमात्मा स्वरूप का ज्ञान अवतार एक शाद सादे देश में होता है लेकिन कल की अवतार का हमें फोटो और सब समझाया ना बोलते हैं ना घोड़ा पर सवारी फेंटा तलवार ऐसा बताते हैं सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से तो कल की अवतार वो तो लोगों को बच्चे को समझाने के लिए है बार जीवो बोलते हैं बार जीवो लेकिन जो समझ लेते हैं समझ इसकी है उसके लिए ज्ञान अवतार परमात्मा का यहाँ पर, परमात्मा प्रकाश से आना सादे वेश में कलयुग में कलयुग में समझे न इसे ज्ञान अवतार जो दादा भगवान की उपस्थिति हुई उनके शरीर के अंदर शरीर का नाम था अम्बालाल मोलजी भाई पटेल लेकिन उसके अंदर ही प्रकाश हुआ जो अनंत ज्ञान स्वरूप है अनंत दर्शन प्रकाश स्वरूप है अनंत सुख स्वभाव से है और अनंत वितराग चारित्र है क्या वितराग चारित्र महीना राग द्वेष से मुक्त क्या बताया संपूर्ण मुक्त से मुक्त उसको विराट स्वरूप बताया लेकिन सादे शरीर में विराट का दर्शन कर कैसे कर पाए इसलिए हाँ। दादा भगवान के असीम जय जयकारों की हम ये स्वरूप कीर्तन भक्ति करते हैं ना उसका मतलब यही है उनको पहचान में आहिस्ते आहिस्ते मेरा कर्म अंदर का शरीर का हड़ू होता जावे और हमें आनंद मिले सभी और सही स्वार्थ किसको बोलता है वो भी समझ में आ जाए तो बाहर शरीर से तो जीना ही पड़ेगा किसी की नहीं चलती हुँ? हम्म? तो अंदर से जीना सीखना आएगा आपको और अक्रम विज्ञान कौन सा ज्ञान है तो अक्रम विज्ञान वो विज्ञान के साथ वाला आत्मधर्म से हमेरा स्वधर्म का जीवन जीना उसको अक्रम विज्ञान बोलते हैं क्या बताया स्वधर्म क्रम विज्ञान महीना हमेरा जीवन जीवन धर्म से इसी ढंग से जिया जाए जिसके कारण हम धर्म के साथ वाला हमेरा शरीर को सही समझ ले उसका सारा विज्ञान में प्रकाश हो जाएगा और विज्ञान एक ही है सो धर्म को प्रकाशित कर सकता है अंदर दिल के जीवन को अंदर के जीवन को उसको धर्म बोलते हैं धर्म समझे हाँ तो ये अक्रम विज्ञान ऐसा है अक्रम विज्ञान और आज मनुष्यों की शरीर की शक्ति नहीं है तो ये इतनी करुणा का अवतार प्रकट हुआ कौन सा अवतार करुणा का करुणा का करुणा सागर तो बोलते हैं सब लोग लेकिन अवतार किसने नहीं बोला अवतार तो ये अवतार उसको बोलते हैं वो दादा भगवान आप समझे ना करुणा तो अक्रम विज्ञान वो अंदर का जीवन का जीने का रीति का विज्ञान है बोलो बोलो विज्ञान अंतर का दिल से जीने का तरीके का जीवन का धर्म विज्ञान है आप समझ गए बस देखो बिना विज्ञान धर्म होता ही नहीं और बाहर सब जगह धर्म चल रहा है वो लौकिक धर्म है गलत नहीं है लेकिन लौकिक धर्म है लौकिक धर्म में मुक्ति नहीं पा सकते आप सांसारिक है वो मुक्ति नहीं पा सकते जिस प्रकार से जो भाव से जितना धर्म किया इतना पुण्य उपार्जन होता है और कुछ नहीं लेकिन पुण्य ऐसा स्वभाव का है तो अकेला रहता ही नहीं तो अनजाने में पाप कहाँ हो जाता किसी को मालूम भी नहीं पड़ता वो तो दोनों जोड़ी है दोनों जोड़ी है और अक्रम विज्ञान आपको पुण्य से और पाप से मुक्त करवाता है हाँ? वो पुण्य का विरोधी नहीं पाप का भी उसको कोई दिक्कत नहीं समझे ना लेकिन वो पुण्य और पाप के सही समझ दे जा रहा है गोक्र विज्ञान अंदर का विज्ञान है तो और बाहर जो दिखाई पड़ता है बाहर का भौतिक विज्ञान है हम्म? ऐसी बात लो साहब बहुत सुंदर समाधान किया आपने बहुत अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये धर्म जैन कौन है विमित आपको पढ़ सकते हैं नाम क्या है नहीं आए अच्छा ठीक है कल का है अच्छा हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म महापुण्य योग से मिला है मनुष्य पर्याय सार्थक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कृपया विस्तार से बताएं ताकि हम श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न सच्चे मानव बन सके ऐसा है तो जैन जी अब तो श्रावक हैं अब जैन हैं तो आपकी विचारधारा अच्छी है बड़ी अच्छी है उसके लिए अगर उन्होंने ज्ञान नहीं लिया तो उसको संबंध समझ लेना तारकचंद जी हमें मालूम नहीं है ये सब को दो तो वही जी आप कुछ देखो क्या नाम है देखो हैं हाँ? आप जहाँ पहचानते ना तो अगले बैच में ले लेना उनको उसको बोलना पवन जी उसको बोलना अक्का समाधान मिल जाएगा जब अपने सब दिवाली के पश्चात आवे वहाँ तो हो जाएगा आजा राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल कौन है और कोई है भाई राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल हाँ अरे आओ आओ आओ वाह वाह वाह बच्चा को उठा के फिरते हैं बड़ा अच्छा है बच्चा सूर्य चल रहा है राकेश जी आपका है आपका प्रश्न है पोता है पोता पोता बरबर हाँ लड़का से पोता अच्छा ज़्यादा लगता है हमेशा को सूद का सूद मिलता है ना दादाजी मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल है अब राजेंद्र प्रसाद जो भाई भाई में झगड़ा हाल बहुत बहु में झगड़ा फिर रिश्ते से दूर जाते हैं रिश्ता दूर, दूर निकल जाता है पति पत्नी के झगड़े ऐसे क्यों झगड़ा क्यों होते हैं उसका एक पुस्तक है आपको वो पुस्तक लाइब्रेरी में रखा गया होगा वो आहिस्ते आहिस्ते एक एक लेना छोटी छोटी पुस्तिकाएँ हैं आप समझ लो आपको समाधान पूरा हो जाएगा पूरा हो जाएगा हुँ? हम्म? ये पुस्तक ऐसी आई है ये सारा काल में आज कलयुग में न देखने आए ऐसी है सब और हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हमें समझ भी लेते हैं और हमें काम लगता है हुँ? हम्म? नहीं तो वो टीवी पर आए वो रिकॉर्ड करे सुने लेकिन चला जाता है हमें पर देखना हो नहीं मिलता इसलिए ये सबसे अच्छा है आज का विज्ञान तो बहुत बड़ा हो गया है तो विज्ञान को सब उसको भी निकाल दिया लाइब्रेरी को भी निकाल दिया ओइन वगैरह बोलते हैं ना क्या क्या लेकिन यहाँ आप लोग पुण्यशाली है कि इतना यहाँ प्रवेश नहीं किया किया तो होगा पवन जी ये ई वगैरह ई मैगजीन ई बुक है उसमें क्या फ़ायदा होता है क्या फ़ायदा होता है इसलिए हम हमेशा छापा हुआ को बोलते हैं बार बार पढ़ सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं ये मुझे विज्ञान मालूम नहीं है मैं खुद में डाउनलोड नहीं हो सकता क्या उदाहरण <laughs> क्या बात करते हैं क्या क्या करें मुझे मेरा पास डाउनलोड करना है बताओ मैं कैसा करूँ <laughs> ये तो विज्ञान है साहब हम्म ये प्रिंट है तो काम में सामने लेगा हमेशा हम्म तो वो जिसको आएगा वो कौन करेगा हमें तो ये अंदर जाता ही नहीं है सांप की टेक्नोलॉजी बहुत हैरान ये आपको फ़ोन अलग अलग देते हैं ना हमें तो सीधा साधा सिंपल बस चलता है तो दे तो, मैं रखता हूँ ना वो चला जाता है आवाज़ सांप देते हैं मुझे मैं क्या करूँ इतना वो संवेदनशील है कि थोड़ा अडो टथो चला जाता वो <laughs> क्या करूँ वो उसको कैसा आज का जुआनों के लिए ठीक है हम्म, फिर भी अच्छा नहीं है अपना विकास के लिए अंतर का समझ मेरी होने लिए वो जो प्रिंट है छपा हुआ है वो सामने रहेगा अच्छा रहेगा कोई अपने पास रख पाएगा हुँ? हम्म? उसको लिए तो मशीन लेना ये लेना और मनु, मनुष्य का बनाया मशीन है तो वहाँ सब है आप समझ लेना और पवन जी को या यहाँ जो कहे ताराचंद जी को कैसे पूछ लो तो उसके छोटी छोटी पुस्तिकाएँ हैं ना સનાતન સુખ है અથડાमन અથડાमन अठलाव टकराव टालिए ऐसे ऐसे बहुत आपका ये टकराव टालिए बड़ा अच्छा आएगा हाँ। उद्घाटन हाँ। हाँ। ऐसा नहीं मिला हाँ तो मिलेगा मिलेगा अब को पूछो पूछो तो देंगे ना कोई देखो नहीं उनको नहीं पुस्तक है ना जिनको जितना पुस्तक पुस्तक वगैरह मेरे पास सारी है देखो दादाजी इनको ये कह रहे हैं समाधान नहीं मिला पुस्तक तो मिल गई मेरा बात मेरा बा, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो ये पुस्तक जो आ रहे हैं ना दिल से बड़ा दिल से सबको बांटे जाओ हरकत नहीं है आपके कम पड़ेंगे या सब आ जाएंगे सब ऐसे भरे भरे ही रहेंगे वाले तो उसको दे दो घर में जाके पढ़ेगा पुस्तक ले जाते हैं और टकराव टक साहब टकराव टालिए देंगे उसको और सनातन सुख ये दो पुस्तक उनको दे दो आप पढ़ सकते हो ना तो दो पुस्तक बड़े अच्छे हैं हाँ पढ़ से आपके लड़के सब कोई बहनों भी पढ़ सकती है कोई भी हाँ जाओ हाँ तो उनको मिलना आप मिलना ना ये देखिए देखा है आप जानते हो ना उनको जानते हो ना बस बस हम दूसरे से अलग है ही नहीं क्या हाँ, हाँ? तो ये हम ऐसा क्यों सोच करें जिसको जिसके लहू में मांस मच्छी का संस्कार है जिसके लहू में लहू बोलते हैं ना लहू में मांस मच्छी सभी उसका खाने का संस्कार है लहू में वो तो करने ही वाला है जिनके लहू में नहीं है उसको विचार भी नहीं आएगा विचार भी नहीं आएगा समझे ना ये सारा मनुष्य जीवन का विज्ञान है पूरा तो उसमें ये है ये नहीं है ऐसा करने की कोई ज़रूर नहीं हम हमेरा संभाल लें क्या बताया खुद का संभाल लें बस खत्म हो गई बात वो तो दुनिया चलने वाली है ना सब दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है और भारत कम है क्या इसीलिए सबको अपना अपना होता है लहू प्रकार का अलग होता है सभी ऐसी इसी बात है समझ गए हाँ वो बहुत गहरी बात है लेकिन छोटे में मैं समझा देता हूँ हूँ दादाजी हम्म। बारह बज चुके हैं तो ठीक है ठीक है अभी कोई किसी का है अभी एक ही बाकी है ब, बच्चे को अरे आइए पता नहीं है क्या करना है हाँ दादाजी इसने तेरह आठ को दो हजार बारह को जन्म लिया था શું કહે છે तेरह आठ તેર જન્મ હા हाँ तीन एक ग्यारह दो हजार बारह को ये इतना बीमार हो गया था हाँ तीन ग्यारह को दो हजार बारह को इसने प्राण दे दिए हम्म, हम्म। किसने किसने बच्चे हाँ हाँ, हाँ, ऐसा ऐसी परिस्थिति आ गई ठीक है ठीक है ठीक है तो हाँ। डॉक्टर डॉक्टर झुक बिल्कुल सारा हॉस्पिटल इसके ऊपर झुक गया था आठ घंटे के बाद दोबारा इसने प्राण दोबारा उतार लिया इसे हम्म, सच्ची बात देखो देखो देखो ऊपर ऊपर देखो हाँ जय सच्ची बात बस ठीक हो जाएगा जाओ अरे अरे हाँ बहुत हल्का है <laughs> संभालो संभालो नहीं अब नहीं दीपक दीपकानंद जी क्या दादाजी दादा जी एक ही एक ही मिनट दादा ये देवराज कालरा है हाँ नहीं नहीं मैं बता देता हूँ शॉर्ट में दादाजी एक है ना हाँ, नहीं नहीं प्रश्न नहीं है ये बताना चाहते हैं कि उनके घर पर उन्होंने सत्संग की व्यवस्था की है हाँ। कंपनी गार्डन में जब बारिश होता है यहाँ पर दो दिन होता है और ये वो उनका घर बड़े शहर के बीच में पड़ता है और ताराचंद जी के अनुमोदन से उन्होंने अपने घर पर व्यवस्था कर दी है कितनी तो जगह है चालीस पचास बैठ सके हाँ पास ही घर है सड़क के पास सड़क के पास ही घर है और ये हमारे जो पड़ोसी जो हमारे पड़ोसी हैं ये सभी मेरे से निवेदन कर रहे थे कांति आनंद जी घर पर गए थे पिछली बार तो उन्होंने कहा कि घरों में भी सत्संग होना चाहिए वो अपने आप ही इट हैपन्स यानी आप देखोगे दीपकानंद जी ने देखा है अपने आप ही सत्संग की तरह बन गया है और ये मोहल्ले वाले सुबह मेरे पास फिर आए कहने लगे कि दादाजी एक बार चरण दादाजी के चरण अगर यहाँ पहुँच जाते हैं तो शाम के टाइम इनको सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं भैंसे हैं तो यहाँ आने में भी असमर्थता वो तो बरोबर तो समझ मैं समझ लिया आप देखो मैं आपकी उन्होंने बात की कि घर में हाँ? जिसी के पास थोड़े बैठने की व्यवस्था है वो हर ऐसा कायम के स्वरूप नहीं हो सकता लेकिन हफ्ते में समझो कि एक दिवस नक्की करो और बहन लोग हैं आपके घर बोलाओ वैसे ही दूसरे बहन को भावना हो गई कि भाई ये दफ़े मेरे वहाँ रखो ऐसा हफ्ते में एक दिवस नक्की कर दो बहनों लोग बेकार आए और आपको दिखाएंगे कैसा करना आपको दिखाएंगे हुँ? और ये क्या कैसा करना मैं आपको बताता हूँ आप समझ लो कैसा करते हैं बहन लोग किसी को मालूम है वो बहनों का सत्संग होता है ना खुद का देखो तीन मंत्र बोलते हैं पहले क्या बताया पीछे नमस्कार विधि बोल लेते हैं सब हिंदी में है आपके पास ठीक है पीछे नव कलमे बोलते हैं जो जीवन को सभी जीवन का सारा विज्ञान समझा देगी नव कलमो बोलते हैं नहीं उनको समझाता हूँ तो वो कोई बहन है जो समझे उसको समझ लो एक हाँ तो नौ कलमो बोल रहे हैं पीछे शुद्धात्मा की प्रार्थना बोलते हैं क्या शुद्धात्मा की प्रार्थना बोलते हैं और पीछे दादा भगवान के असीम जय जयकारों की भक्ति कर लेते हैं दस मिनट और उसके पश्चात जो कोई जो बहन पढ़ सकती है सही ढंग से पढ़े और बाकी के सब सुने खाली समझे ना और पढ़ने वाली पढ़े खाली उसमें सोच बोझ नहीं करनी है और सुनने वाले सुने अपनी सोच नहीं लगानी है उसमें बहुत फायदा हो जाएगा आपको बहुत फायदा हो जाएगा ये बहुत आपको सादा लगता है लेकिन आपको जब जैसा फायदा होगा आपको मालूम पड़ेगा है શું કહે છે बिल्कुल अनपढ़ है बिल्कुल अनपढ़ है अनपढ़ सबसे बड़ा पढ़े पढ़ा हुआ है सच्ची बताता हूँ मैं सबसे बड़ा पढ़ा हुआ है हाँ ये ज्ञान और ये सब आपके लिए ही है सबको सब बड़े पढ़ जाते हैं तो ये सब मत्था ज़्यादा काम कर लेता है दिल काम करने की जगह वो काम करता है है कि नहीं तो हरकत नहीं है वो तो शरीर का ही अंग है ना लेकिन मत्थे पर दिल का राज चलना चाहिए क्या बताया राज उसका चलना चाहिए समझे ना लेकिन उल्टा हो तो क्या हो जाता है ये आज की गड़बड़ है सभी लोगों की समझे जाओ तो बहनों का आप ऐसा कर सकते हो और भाइयों में भी ऐसा सेंट्रल हो तो भाई ये अलग हो सकते हो और यहाँ तो सभी को आने के लिए हर एक हर एक टाइम तो नहीं आ सकेंगे लेकिन जैसा अवसर मिले आ सकते हो अवसर मिले ऐसा समझे ना ऐसा तो मिल सकता है ना आप समझे आप सबको समझाना और कौन कौन आप समझ लिया मेरी बात हाँ, बहनों बहनों खुद अपनी इकट्ठे हो जाओ हाँ? और जैसा अवसर मिले ऐसा ये तो एक स्थान बन गया आपका अपना खुद का स्थान बना कि हम जो शरीर में आत्मा स्वरूप है तो हमारे लिए ऐसे आत्मा स्वरूप वालों के लिए एक दूसरे को समझने के लिए एक जगह तो होनी है कि नहीं नहीं तो हम जाते हैं त्यौहार त्यौहार होता है तो मंदिर में जाते हैं यहाँ जा, जाते हैं कि नहीं यही ये तो आत्मा मंदिर बन गया क्या हाँ स्वात्मा मंदिर स्व स्व आत्मा मंदिर साहब समझे कि नहीं इसीलिए है और कुछ नहीं तो कई समय समय पर कोई ऐसा प्रसंग करते हो तो सब आते जाते हैं ठीक है लेकिन सबको अनुकूल हो ऐसा एक देख ले कर लेना और वैसे तो सारा साल में चार बड़े प्रसंग आते हैं दूसरा थोड़ा दो तीन आते हैं वो कर लेना आप तो पुत्र समझाएंगे आप हम्म, ये पूरा ये मनाओ सबके लिए पूरी व्यवस्था करो सब कुछ करो और और भी बढ़ेगा वो हाँ आपका घर जहाँ है वहाँ से आ सकती है ना कोई गड़बड़ नहीं ना तो बस होते ही हाँ? एक तो हमने लास्ट ईयर मतलब पिछले साल से गुरु पूर्णिमा का प्रसंग हर एक सेंटर पर कर दिया है अच्छा, सुबह से शाम का क्या साहब बताते हैं कि जो गुरु पूर्णिमा संख्या थी तब सूरत का मंदिर पर करते थे लेकिन सबको अनुभव हुआ कि सभी केंद्र बड़े बड़े हो गए हैं तो अपने अपने केंद्र में कर सकते हैं तो आपका अलवर का यहाँ गुरु पूर्णिमा का अवसर यहाँ ही कर सकते हैं मंदिर तो है आपके सामने पूरा हाँ तो दादाजी लास्ट ईयर हमने लास्ट ईयर हमने मुंबई सूरत बड़ौदा अहमदाबाद और हिम्मतनगर को दिया था अलवर वाले ने विनंती की थी कि हमें भी एक सुबह से शाम का गुरु पूर्णिमा का प्रसंग मनाते हैं हाँ। तो इस बार अलवर में भी हम एक दिन का गुरु पूर्णिमा का प्रसंग लो यहाँ पे आप तो पुत्र आ जाएंगी आप तो फायदा ही फायदा हो गया आपको तो हाँ? हम्म, हमें पैसा वाले का मुनाफा को फायदा नहीं बोलते आत्मा के सारे संस्कार सिंचित होते जाते जाए मेरे अंदर शरीर के अंदर आत्मा शरीर नहीं है शरीर आत्मा नहीं है फिर भी दोनों जात साथ जात साथ साथ में है जैसा दूध और जल एक साथ में होता है बिना जल का दूध किसी ने देखा मैं बोलो हाँ बिना दूध का जल हाँ और जो जल दूध साथ वाला है वो तो साथ में ही रहता है कि नहीं ये लोग पानी उड़ा देते हैं तो पाउडर बना देते हैं तो पाउडर बनाते तो बच्चे को पिलाने के लिए जल तो डालना पड़ेगा ना हाँ और अपने दही दही बोलते हैं ना दही बनाने के बिना जल दही बनेगा ऐसा है तो आज का विज्ञान है सब हकीकत में पानी साथ में ही जल लेकिन पानी पानी का काम कर लेता है दूध दूध का काम कर लेता है उसी दूध में से हमें कितना अच्छा घी मिलता है हम्म? घी लेते हैं तो शरीर पर ओजस होता है ओजस बोलते हैं वो हम्म? घी का प्रकाप प्रताप है घीता घी का प्रताप है ओजस बोलते हैं ओजस को किसी भी मनुष्य हो तो उसके पीछे होता है किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा हम देख लेते हैं लेकिन वो उसको आभा मंडर बोलते हैं आपने सुना होगा हर एक को होता है वो अंदर का कैसा जीता है उस प्रकार से है समझे तो वो अच्छा अच्छा होता जाता है आहिस्ते आहिस्ते दादाजी एक, एक अपने महात्मा की पोती है हाँ। उनको एक एक भजन गाना है हाँ, बोलो दीपिका है यहाँ पर बिरजू सिंह की पोती कितनी पोती है बिरजू सिंह की जल्दी से बुला लो और तब तक दादाजी एक हाँ अभी का कागज हाँ એ લોકો મુખ પાઠે चलो आप पहला वो चालू करो वो आए तहाँ तक चलो यहाँ खड़ा रहो लाइन में ऐसा वो मुंह वो बाजू करो मुंह चलो चलो मुंह बाजू करो चलो चलो चलो चलो चालू करो कोट तो कोट टोपी वाले दादाजी हमारे बोलो कोट टोपी वाले दादाजी हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे अम्बा लाला भीतर दादाजी विराजे जो पहचाने जो चाहे वो पाले ज्ञान हमारी प्यास है केवल सत की भूख है ज्ञान कुर्बानी कुराग है आत्म रानी सुख है हम सभी एक हैं सच आज़ादी पाना है ना किसी से लेना है जकल जकल्याणी भाव है शुद्धात्मा ही लक्ष्य है मुक्षानंद अंधेर सच्चिदानंद व्यक्त है प्राणों से भी प्यारे हैं भोले भाले दादा है सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है सपनों में हमें आते हैं नींद से हमें जगाते हैं निर्मल सुख संकार से हरदम हमें हंसाते हैं चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है दो अक्षर का नाम है सोना है डीए सर का नाम है डीए डीए दादा है दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है दुनिया अपना फोटो है जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं उधारी कल जोग में बैरल चक बुक लाए हैं जय सच्चिदानंद अभी अभी ये लड़की है ना वो बोलेगी एक पद यहाँ जाके बोल तू ऊपर देर कैसे उसके पास है आप खड़े रहो खड़े रहो आप लोग बुलाओ खड़े रहो वहीं खड़े रहो हम्म। बोलो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए इसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं किसी इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं किसी को दुख देता है तो किसी को दुख देता है तो खुद को दुख होता है किसी को दुख देता है तो खुद को दुख होता है किसी को सुख देता है तो जीव को सुख मिलता है किसी को सुख देता है तो जीव को सुख मिलता है जो करनी है वही बढ़नी उसी को कर्म कहते हैं जो करनी है वही भरनी उसी को कर्म कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं कोई धनवान होता है कोई इंसान निर्धन है कोई धनवान होता है कोई इंसान निर्धन है कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है कभी सुख है कभी दुख है उसी का नाम जीवन है जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं एक तो उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर कोई हंस हंस कर जीता है कोई जीता है रो रो कर कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं बैठ जा बैठ जा अगर गलती रुलाती है पीछे रास्ता दिखाती है गलती रुलाती है ये कठपुतली का मेला है सबक तो रोज मिलते हैं इसी को मम्मी और बच्चे का रिश्ता कहते हैं जो मम्मी कोई ढूंढेगी पछताए उसे जागृति कहते हैं करके पछता है उसे जागृति कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं यूं भरने को उन दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं पथिक जो बाट के खाए उसे इंसान कहते हैं पथिक जो बाट के खाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं करुणा के असीम सागर स्वयं भगवान होते हैं करुणा के असीम सागर उसे भगवान कहते हैं जो बड़े ज्ञान की गागर जगत से पार होते हैं जो भरले ज्ञान की गागर जगत से पार होते हैं जो सब में देख ले भगवान उसे इंसान कहते हैं जो सब में देख ले भगवान उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं प्रकट दादा की आत्म जो हाँ। युगों को रोशनी देगी प्रकट दादा की आत्म ज्योत युगों को रोशनी देगी जगत में मोक्ष अनुभूति अहो मुक्ति जगत में मोक्ष अनुभूति अहो मुक्ति शरीर में शुद्ध निराकार पे ही भगवान होते हैं शरीर में शुद्ध निराकार वही भगवान होते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहती हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं हराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बच्चे घूम जाओ पीछे दादाजी की तरफ घूम जाओ वडील उत्तम कोई आओ पांच बैठो खड़ा हो सरी बहन मेरी जो आध्यात्मिक का प्रमुख आचार्य है उनकी स्कूल की खड़े हो जाओ नहीं नहीं हाँ। ये मुंबई अंधेरी में 2600 बालकों के स्कूल चलाती है ये बहन 2600 और वहाँ हिंदू महाराष्ट्रियन गुजराती क्रिश्चियन मुस्लिम हाँ। सभी प्रकार के स्टूडेंट्स हैं समझो और सभी इतनी एकत्रता से शांति से रहते पढ़ते हैं तो उनके तरफ से उस कुल की अध्यापी है तो आपके हाथ से दो आप अपने पर आओ आओ आओ आओ सॉरी आ आ कभी तो किसी का माना करो आपके हाथ से दे दो मैंने आशीर्वाद दे दिया है ये हाँ। लड़कों ने कम नहीं किया लड़कों ने कम किया ये, ये बच्चा ने ले जा अच्छा। प्रसाद मेरी प्रसादी हाँ तो वही वो तो ठीक है वो तो उसका फायदा हो गया अरे हम लोग तो किसको किसको दू सबको सबको बीस बीस रुपया काम करो ये बाकी के पाँच सौ है ना उसमें कोई वडील है उसको बोलो चारों को बांट दे लेकिन उसको पच्चीस कम मिला दादाजी पवन जी को दे दीजिए पवन जी पवन जी को लाए बच्ची वो सबको दे दो तो जोड़ सकेंगे वो तो ऐसा करो ये 600 सौ है न तो तीन और डाल दो तो डेढ़ सौ डेढ़ सौ दे दो जाओ तुम डाल के तुम दे डाल देना उत्तम जी को दे दो उत्तम जी दे देंगे वो आगे आगे आगे एक कम पड़ा बस आ गया आ गया पूरा हो गया पूरा हो गया नहीं नहीं अभी ज्यादा नहीं ले लो ले लो दादाजी ले लो ले लो वो अपना हॉल में दे दो दादाजी अपने को भी हॉल का तो फंड जाना है हॉल का फंड है ना तारा चंद जी हाँ? हाँ, पेटी है ना वहाँ डाल देना अभी आपको सबको बुलाना अच्छा खिलाना उनको बुलाओ जाएंगे दादाजी के घर जानते हैं दादाजी दादाजी वहाँ डालना मेरे बात सुनो ये हॉल का फंड बनता है सभी का काम में ऐसा उसमें वो रखिए डबी उसमें डाल और कहाँ रखा है वो पेटी रखे देखिए ले लीजिए दादाजी अभी ले लीजिए दादाजी ये सब आ गया अब उत्तम जी और दिलीप भाई को बुलाया तो उनको भी क्या देना है वो नहीं वो तो हो गया हो गया हो, हो, हो, हो गया उसने बहुत मिल गया वो लेने आए तो मैंने पूछा कि देना है आपको तो ये सभी को बोला ना भाई हाँ पवन पवन तो जी सबको आपको घर बुलाना बस बस बस बस बस हो गया चल अच्छा। और देखो जिसको भावना है ना ये हॉल अपना मंदिर है अपने खुद के लिए जब ही ऐसा प्रसंग आवे नक्की करो तो सब इकट्ठा को इतनी अच्छी अपनी कीर्तन करो भक्ति करो और ज्ञानी पुरुष की अनुभव वाणी सुनो कोई बोले सुने ऐसा करते रहो तो वो पेटी में डालते रहते हैं आप हाँ वहाँ फंड तो मिलेगा ही लेकिन एक फंड हो जावे तो कोई प्रसंग करना ये करना उसको ज़रूर है कि नहीं हाँ ऐसी बात है जाओ लो भैया आपको ये बहन साल लेके आई है आपको उड़ाने के लिए दादी शाल उड़ाना है उनको दादाजी तो टाइम बच्चों का पवन जी बच्चों का खास ख्याल करना હા કોણ શું છે કોણ છે હા સમજી ગયો સમજી ગયો ઓકે ઓકે સાલ લઈને આવ્યા કોઈ કરીએ કરીએ છીએ કરીએ છીએ બસ બેન आने दो शुक्ला जी को आने दो आ, वो आगे पीछे पीछे आ गए दोनों साथ में उनको हाथ लगाओ दादाजी आप हाथ लगाओ आइए ऊपर आइए ऊपर आइए आइए ऊपर आइए बस बस ओम प्रभु आप दोनों ऐसा जीवन जीवो के उसमें आप है क्या बताया बोलो उनों में आप है और आप उनों में आप है समझ गया जी पाएंगे उनों में हाँ बस आशीर्वाद पर जाओ जाओ चलो बैठिए समझ गए बैठिए बैठिए बैठ जाइए <laughs> ये तो आलू अलवर की ये तो अलवर की मिठाई है स्पेशल चलो ठीक है ठीक है चलो ठीक है प्रसाद बना दो प्रसाद चलो ठीक दादाजी अलवर की स्पेशल बस बस बस पवन जी बस बस दादाजी पवन जी कह रहे वो हरलाल जी को कुछ हरलाल अरे हरलाल जी आइए पधारो पधारो हरलाल जी ये हॉल उसकी व्यवस्था में उनका बहुत अहम योगदान है तो वो दो शब्द हमें बोलते हैं हम सुनेंगे आइए यहाँ यहाँ आइए हाँ सर जरूर जरूर ठीक है हरलाल जी दो मिनट हेलो हाँ, प्लीज खूब आशीर्वाद हाँ जी बोलिए अल्लाह जी फरमाओ जय सच्चिदानंद देखो ऐसा है मैं ये निर्माण की बात बता रहा हूँ आपको दादा की कृपा कैसी बरसी है जो आज यह मंगल हो रहा है ऐसा है कि यहाँ पर मैंने दादा से प्रार्थना करी थी भाई दो साल तक मैं टीवी में देखता था कि ये दादा ये खा मिलेगा खा मिलेगा तो बोले भाई अहमदाबाद मिलेंगे तो मैंने कई बार यही प्रार्थना करी कि दादा मेरे को मिला कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा फिर बाद में <clears throat> ऐसा है हमारे ए, अपने हलवाई अपने रामेश्वर जी ने क्या अरे वो दादा यहीं आएगा तो दादा आया और मिला करके मेरे को फिर इनका दर्शन होया वहाँ पर मेरे को ज्ञान विधि भी हुई फिर बाद में हम एक बार अहमदाबाद गए थे वहाँ पर जा कर के और मैंने देखा कि यहाँ तो कई हजार आदमी लाइन में लग रहे हैं और सब भोजन कर रहे हैं और ऐसा हम भी दादा हमें भी ऐसा होना चाहिए जी हमारे अलवर में ऐसा हो तो वहाँ करते करते मैं तो लाइन में लग रहा बस मेरे को यही भन बोर लग रहा है हमारे भी दादा ऐसा हो तो रात को हम एक हॉल में सो गए जा कर के वहाँ सोगे जा करके रात को बारह बजे ऐसी कृपा हुई मेरे तो ये प्रार्थना लगी नहीं अक भाई अके सो दादा मैं हमको भी ऐसी उस्ताद है जो हमारे अलवर में भी ऐसा हो जाए तो क्या हुआ दादा ने दर्शन दिए अगजा जमीन हिर ले दो सौ वर्ग गज कहूँ भी यही हो जाएगा तो आज प्रार्थना ऐसी मेरी पूरी हुई है वहाँ से रात भर हमको नींद नहीं आई और मैंने सुबह चार बजे सब लोगों को जगा दिया हमारे सौ आदमी कम से कम वहाँ थे सौ आदमी इनको मैं सुबह निकी मैंने भाई तुम ऐसा है मेरे को रात में नींद नहीं आई और दादा ऐसा दर्शन दिए मेरे को आके तू जमीन हेर ले जा अपन तुम मेरे साथ हो या नहीं हो इन मैंने के सब ऊपर को हाथ करो बैठा दिया चार बजे सब ने ऊपर को हाथ किया हम तेरे साथ हैं तो वहाँ से आकर के हमने सब जमीन खूब जी जी ने हमने खूब जगह जगह देखी और आता ही फिर हमने ये जगह तलाश कर ली और यहाँ आकर के फिर बाद में हमने आकर ज़मीन का प्रहरण कर लिया और पैसे भी हमने ज़मीन को खरीदने का साय भी कर दी उसके सब काम कर दिए और फिर बाद में वहाँ से हम रजिस्ट्री का टाइम एक दिन का रह गया जब दादा से हम जब रजिस्ट्रार के पास गए तो वहाँ यह हुआ भाई मैं ज़मीन का मौका देखूंगा जब जा रजिस्ट्री रहूँगा तो मैं और पवन जी दोनों और एक तहसीलदार तीनों गाड़ी में आए और उसने देख कर कहा भाई इसमें तो एक लाख रुपया और लगेगा मैंने यार ये एक लाख रुपये भाई कहाँ से लाएंगे हम तो मैंने दादा को सुमरा और सुमर के गाड़ी में ही खा मन कि दादा अब कैसा होएगी जब जा कर के और तहसीलदार से कहा मैंने भाई ये तो तू ही देगा एक लाख रुपया और बस वह बेचारा ऐसा ही छोरा सा ही उसने क्या घाट में बैठ गया दादा उसने उसी टाइम लिख दिया अगवाई ले चलो हटाओ होगी तुम्हारे रजिस्ट्री मैंने आज का ही पुण्य बस आपका बस जाने खा दादा पहुँचा देगा तो इस तरह से दादा इसका निर्माण हुआ और दादा ने फिर बाद में हम ओजू गए जब जा रहे हमने कह दिया भाई जमीन तो हमने खरीद ली परंतु अब ऐसा कैसे निर्माण होगा दादा ने बुला कर ये कहा अक भाई तुम ऐसो पत्थर ले आओ और मैं यहाँ से दादा मुहूर्त बना दूंगा तुमको और तुम्हें समा कर लेना जब हम यहाँ से पत्र ले गए जा कर के और हमारे डॉक्टर थानेदार साहब बेचारा यहाँ से पत्थर गए माथा धर करके और ले आया भी और फिर बाद में ऐसा आज दादा ने वहाँ कोई दस हजार आदमी का बीच में हुआ देख करके वहाँ बुलाया स्टेज पे और वहाँ अपने हाथ लगवा करके तैयार कर दिए पत्थर हम वहाँ से लेकर के वो ले जा और अब ये काम तुझको ही करना पड़ेगा हमारे दादाजी ने कहा जय सच्चिदानंद तो हल्लाल जी जय सच्चिदान हल्लाल जी मैं हम जानते हैं जब नींव रखनी थी तब हमारे पास पैसे नहीं थे साहब और आप दादा दादा करते पैसे इकट्ठे हो गए और आज आपने महल बना दिया मोक्ष महल यहाँ पे खड़ा किया साहब दादा की ऐसी कृपा हुई है अब तीसरी की भी अब क्या होगी अरे अरे साहब अभी तो और मैं तो जब तक दादा का ले लो माइक अभी तीसरा माल नहीं लेना है मुझे लिफ्ट बिठाना है क्योंकि अक्रम मार्ग खड़ा करना है यहाँ पे चलो जी हम माफी चाहते हैं सभी का किंतु एक एक अलवर के एक एक के हृदय में एक एक हृदय में इतिहास पड़ा है सबके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कृपा है और कृपा की वजह से ये हुआ है और अब दादाजी का ये चार दिन का प्रोग्राम सभी को मिला चार दिन जो हमने यहाँ पे बिता है वाकई माइंड लोग कि बहुत बड़ा उत्सव किया केसर के लोगों को बहनों को सबको और जाओ बहुत सभी की कृपा से और सभी के आशीर्वाद से यह हमारा प्रसंग ज्ञान विधि सत्संग गरबा प्रभात फेरी सब कुछ हुआ और साथ में मौसम ने भी बहुत साथ दिया मौसम ऐसा बनता गया कि और भी हम प्रसंग का बहुत अच्छी तरह लाभ ले सके दादाजी और हम आप सभी को जैसे आप गुजरात आते रहते हैं वैसे ही हम अलवर आते रहे ऐसी हम भी ऐसी इच्छा रखते हैं और अंत में सभी का हम सभी महात्माओं को विनंती करते हैं अभी दर्शन के लिए कोई नहीं आए एक की वजह से दूसरा दूसरे की वजह से तीसरा और दादाजी की तबीयत का भी हमें ध्यान रखना है तो सभी अपनी जगह बैठे दादाजी दर्शन देते देते दादाजी निकले बाद में ही सबको प्रसादी के लिए खड़ा होना है प्रसादी सभी को लेकर जाना है केवल हाथ में हार दीजिए केवल हाथ में हार दीजिए बस बस बस दादाजी की तबियत की वजह से हम सभी को कोई आगे नहीं आएगा प्लीज कोई आप आगे सब बैठ जाइए सब बैठ जाए बिहारी आनंद जी वहां पे प्लीज आप लाइन नहीं लगाना है उनको बोलो ला, लाइन नहीं है सभी को सभी को अपनी जगह पे ही बैठना है सभी को अपनी जगह पे बैठना है आप सब आप सब बैठ जाइए प्लीज मेहरबान करके बैठ जाइए सभी को व्यक्ति सभी व्यक्ति को व्यक्ति व्यक्ति तक ऐसा वो बताते हैं ऐसा हम करेंगे तो सभी को खुद को यहाँ दर्शन करके जाएंगे समझा हाँ तो कैसा देखो उसमें पीछे जगह है हाँ, हाँ जी उसमें पीछे जगह है तो यहाँ से भाई लोग आएंगे पाँच पंद्रह बीस ऐसा करके वो पीछे से आएंगे तो यहाँ से निकल जाओ और भोजन के लिए जाओ वैसी वहाँ बहन से आग पीछे से आएगी यहाँ से निकल निकल भोजन के लिए जाओ ऐसा सभी को हम दर्शन देंगे ठीक है दूर से दर्शन करना है केवल दृष्टि से दर्शन करना है मुझे देख लो खाली आंखों मिला लो बस आंखों मिला के आंखों से आंखों मिला लो और कुछ नहीं किसी को भी पैर छूना नहीं है आंखों से आंखों दर्शन करना है और आगे से खड़े होते जाए दर्शन करते निकलते जाए खड़े हो जाओ आगे से दर्शन करते जाओ और निकलते जाओ भगवान ना असीम जय जयकार हो पहली बात में सीधा पहली बात में नहीं नहीं दूर से सभी को दूर से दर्शन करना है जय जयकार हो सभी को दूर से सामने देखिए